परम पिता परमात्मा का स्मरण सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम परमात्मा प्रणव तो ओ धर्म प्रेमी सज्जनों परमात्मा को विभिन्न संबोधनों से संबोधित करते हुए हम परमात्मा के विभिन्न गुणों को अपने मन में उभारते हैं उन गुणों से संबंधित भावना बनाते हैं इन संबोधनों को करते हुए हम परमात्मा के ठीक स्वरूप को अपने ज्ञान में मन में लाने का बैठाने का उभारने का प्रयास करते हैं आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश के प्रथम मंत्र में महर्षि दयानंद ने बहुत से संबोधन दिए हैं उनमें से क्रम प्राप्त एक अन्य संबोधन को आज लेते हैं महर्षि लिखते हैं हे अद्वितीय अनुपम जगदादि कारण मिला करके जो संबोधन किया गया इसमें तीन शब्द हैं हे अद्वितीय दूसरा शब्द है अनुपम और तीसरा है जगदादि कारण परमात्मा अद्वितीय है परमात्मा को हम अद्वितीय जानते समझते हुए उसे संबोधित कर रहे हैं अद्वितीय का अर्थ है उस जैसा दूसरा न होना परमात्मा के जितने भी गुणधर्म हैं परमात्मा जैसा भी है वैसा कोई भी दूसरा नहीं है बहुत सारे व्यक्ति ईश्वर को मानते हैं स्वीकार करते हैं अपने अपने बड़े वर्ग हैं लाखों करोड़ों की संख्या में समुदाय हैं जो परमात्मा को स्वीकार करते हैं लेकिन भिन्न भिन्न रूप में स्वीकार करते हैं परमात्मा के प्रति उनका भाव भिन्न भिन्न होता है परमात्मा के स्वरूप को वो भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं स्वीकार करते हैं और चूंकि ये व्यवहार बहुत लंबे समय तक चलता रहता है हम जीवन में देखते रहते हैं तो एक जन सामान्य के मन में बात आ जाती है कि सबके भगवान भिन्न भिन्न हैं क्योंकि उनका स्वरूप भी भिन्न भिन्न है और वो अनेक परमात्मा को अनेक भगवान को अनेक ईश्वर को मानने लग जाते हैं कि भगवान अनेक हैं वैसे बातचीत में ये भी कहेंगे कि भगवान तो सबका एक ही है आप भिन्न भिन्न नाम ले लीजिए भिन्न भिन्न तरह तरह से उसकी स्तुति प्रार्थना भक्ति कर लीजिए लेकिन भगवान तो एक ही है ये भी बहुत प्रचलित है इतना होते हुए भी जो परमात्मा को एक मानते हैं वे भी इसका कथन करते हैं वे भी जो भिन्न भिन्न मानते हैं वो तो उस रूप में आएंगे ही लेकिन जो एक मानते हैं वे भी जब अपने ढंग से परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करते हैं उसको भजते हैं उन कुछ विशेष कामनाओं को लेकर के परमात्मा से प्रार्थनाएं करते हैं और जब वो प्रार्थनाएं पूर्ण होती हुई नहीं दिखती हैं तो मन में संदेह पैदा होता है अपनी विधि में प्रार्थना में दोष हो उसको भी सुधारने का प्रयास करता है लेकिन वो ये एक मान के चलता है कि मैं प्रार्थना करता हूं मनुष्य प्रार्थना करता है और परमात्मा उसे पूरा करता है प्रार्थना की जाती है और परमात्मा पूरी करता है ये भाव उसके मन में दृढ़ बना हुआ है और यदि वो ये भी सोचता है कि कुछ प्रार्थना पूरी होती है कुछ नहीं होती है तो मान के चलता है कि दुष्टों की नहीं होती है सज्जनों की तो होती है अब वो अपने को सज्जन ही देखता है सज्जन ही मानता है तब भी उसके मन में ये संदेह होता है कि इस भगवान से तो प्रार्थना पूरी नहीं हो रही ये जो दूसरे हैं इनके भगवान से मैं प्रार्थना करके देखता हूं इस भगवान को तो पाने का प्रयास किया नहीं मिला लेकिन इस दूसरे भगवान को पाने का प्रयास करता हूं दूसरा भगवान अर्थात दूसरे समुदाय का वर्ग का दूसरे समुदाय के द्वारा जिस भगवान की पूजा की जा रही है वो उस ओर जाने लगता है अनेक व्यक्ति बोलते भी हैं कि पहले मैं इस भगवान को मानता था अब इस भगवान को मानता हूं तो महर्षि दयानंद ये संबोधन देते हुए हमें बता रहे हैं कि परमात्मा तो अद्वितीय है एक अकेला है उस जैसा और कोई नहीं है वो एक ही है तो अद्वितीय से एक तात्पर्य कि सृष्टि की उत्पत्ति रचना करने वाला कर्मफल देने वाला न्यायकारी परमात्मा वो एक ही है दूसरा कोई नहीं है और इससे जुड़ा हुआ अर्थ है जो कि इसका मुख्य अर्थ है कि जो एक परमात्मा है उस जैसा और कोई नहीं है उस जैसा और कोई नहीं है परमात्मा के गुणों को देखें तो उन गुणों वाला भी दूसरा कोई नहीं है संपूर्ण गुणों से युक्त परमात्मा क्योंकि किसी वस्तु का आकलन हम उसके एक एक अंश में समझने के लिए भले ही करते हो लेकिन उस वस्तु का समग्र स्वरूप उसके समस्त गुणकर्म स्वभाव के साथ में देखा जाता है तो परमात्मा के जितने भी जैसे भी गुणकर्म स्वभाव हैं वैसा और कोई नहीं है परमात्मा को अद्वितीय कहते हुए परमात्मा की श्रेष्ठता सर्वोत्तमता यहां पर परोक्ष रूप से कही जा रही है वैसे तो कोई बहुत दुष्ट व्यक्ति हो बहुत क्षुद्र वस्तु हो उसके जैसा भी कोई नहीं है प्रकृति के जैसा भी कोई नहीं है आत्मा के जैसा भी कोई नहीं है न परमात्मा है न प्रकृति है और आत्माओं में भी अलग अलग देखें वे इतने मनुष्य हैं तो एक मनुष्य जैसा कोई भी नहीं है उस दृष्टि से हर मनुष्य अद्वितीय है उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है वो वो खुद अकेला है वैसा प्रत्येक वृक्ष प्रत्येक फल प्रत्येक पत्ता अपने आप में अद्वितीय है उस जैसा दूसरा कोई नहीं है तो ये अद्वितीय शब्द का व्यवहार तो किसी भी वस्तु के साथ में किसी भी क्रिया के साथ में किसी भी गुण के साथ में हो सकता है लेकिन यहां अद्वितीय शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जा रहा है जब परमात्मा को अद्वितीय कहा जा रहा है इसका मतलब है दूसरा कोई अद्वितीय नहीं है यदि परमात्मा अद्वितीय है इस रूप में कि उस जैसा कोई नहीं है जैसे कि हमारे जैसा और कोई नहीं है इस सामान्य अर्थ में लें तो यहां उस संबोधन की कोई आवश्यकता नहीं होती लेकिन यहां जब अद्वितीय शब्द प्रयोग किया जा रहा है इसका मतलब है श्रेष्ठता में उस जैसा कोई नहीं है ये प्रशंसा भी जुड़ी है यहां यहां संबोधन प्रशंसा से युक्त है और प्रशंसा तब हो सकती है जब उसकी श्रेष्ठता हो तो ज्ञान परमात्मा का अद्वितीय है उसके बराबर उससे अधिक कोई नहीं है श्रेष्ठता बताई जा रही है परमात्मा का आनंद उस जैसा सुख और कहीं नहीं है उतना या उससे अधिक न्यायकारी कोई नहीं है बल किसी का वैसा नहीं है इन सब चीजों को हम देखेंगे तो परमात्मा कुल मिलाकर के भी अद्वितीय प्रतीत होगा तो अद्वितीय शब्द का प्रयोग करते हुए हम परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ हर चीज में सबसे श्रेष्ठ मानते हैं कुछ गुणों के अंदर हम परमात्मा की और अन्य वस्तुओं की समानता भी देखने लगते हैं वैसे हर गुण में परमात्मा अद्वितीय है क्या कोई गुण ऐसा है क्या कोई कर्म ऐसा है जिसमें परमात्मा अद्वितीय ना हो हम भी दूसरों को देते हैं सहयोग करते हैं परमात्मा भी देता है इस दृष्टि से कोई कहने लगे कि ये देना समान है न्याय कोई राजा या न्यायाधीश भी करता है परमात्मा भी करता है तो न्यायकारी गुण दोनों का है दोनों समान है लेकिन इन सब गुणों में देना तो परमात्मा का देना जैसा है वैसा कोई नहीं देता न्याय तो जैसा परमात्मा का है वैसा किसी का नहीं है तो परमात्मा के जितने गुण हैं वो दूसरों में मिलते हुए भी कुछ अंश में वो परमात्मा के जैसे नहीं है परमात्मा की श्रेष्ठता वहां पर है ये अद्वितीय शब्द को बोलते हुए हमारे मन में भाव रहे ये महर्षि का तात्पर्य प्रतीत होता है क्या कोई गुण ऐसा है जिसमें परमात्मा और हम समान हैं तो कुछ चीजें कहने को कही जाती हैं कि परमात्मा की और आत्मा की चेतनता समान है ये ठीक है आत्मा एक देशी है परमात्मा सर्वव्यापक है लेकिन चेतनता तो समान है चैतन्य तो समान है प्रकृति जड़ है आत्मा और परमात्मा तो चेतन है तो चेतनता तो समान है लेकिन चेतनता का अर्थ क्या है हम सामान्य रूप से कह देंगे चैतन्यता है दोनों में उसमें कोई विशेषण हम नहीं लगा सकते कि परमात्मा की चेतनता ऐसी और आत्मा की चेतनता ऐसी चैतन्य एक जैसा ही हम समझते हैं लेकिन यदि हम चेतनता के अर्थ में जाएं कि चेतनता का मतलब क्या है चेतनता को किस रूप में देखेंगे हम क्या है चेतनता तो चेतनता ज्ञान से जुड़ी हुई है संज्ञान से जुड़ी हुई है चेतनता की संज्ञान जानने अनुभव करने से भिन्न दूसरी क्या व्याख्या है जो चेतन होता है वो कर्म करता है क्रिया होती है उसमें जड़ में भी होती है तो नहीं चेतन जो कर्म करता है वो इच्छा पूर्वक करता है वो कर्म करने में स्वतंत्र है जड़ वस्तुओं में क्रिया होती है कर्म वहां भी होते हैं लेकिन वो कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है उनका जैसा चलता है वैसा चलता है तो चेतनता किसे माने क्या इच्छा पूर्वक कर्म करने की सामर्थ्य इसे चेतनता माने ये चेतन में ही मिलता है क्या ये चेतनता है जो चेतन होता है वो सुख दुख का अनुभव करता है क्या इसे चेतनता माने प्रकृति जड़ है वो सुख दुख का अनुभव नहीं करती परमात्मा चेतन है क्या परमात्मा सुख दुख का अनुभव करेगा जैसा हम करते हैं चेतनता को कहा हम केंद्रित करें कहां सीमित रखें चेतन मतलब क्या हम देखते सुनते को ज्ञान प्राप्त करते हैं ये जानना चेतनता के साथ में मूल रूप से ज्ञान जुड़ा हुआ है और इच्छा और अनिच्छा प्रीति अप्रीति ये भी उसके कारण साथ में जुड़ी हुई है जो कर्म करने की स्वतंत्रता है चेतन में जड़ से उसके कर्म भिन्न प्रकार के होते हैं वो कर्म इच्छा और अनिच्छा से युक्त होकर के होते हैं जड़ के कर्म इच्छा अनिच्छा से युक्त नहीं होते केवल कर्म होते हैं केवल क्रिया होती है तो इस रूप में हम चेतन की और जड़ की विशेषता देखें तो चेतन की विशेषता इच्छा प्रीति अप्रीति पूर्वक कर्म करना तो कर्म तो समान है दोनों में विशेषता है प्रीति अप्रीति की इच्छा और द्वेष की और ये इच्छा और द्वेष ज्ञान पूर्वक होते हैं ज्ञान के अनुरूप हमारी इच्छाएं बदलती हैं ज्ञान के अनुरूप हमारी अनिच्छा बदलती है इसका आधार ज्ञान है इच्छा अनिच्छा स्वतंत्र गुण होते हुए भी उसकी क्रियाशीलता उसकी सक्रियता उसका उद्भव उसका प्रकटीकरण ज्ञान के अनुरूप होता है तो चेतनता को यदि हम बिल्कुल अंत में समझें तो वो ज्ञान ही है संज्ञान ही है अनुभव ही है जो जानता है जान सकता है वो चेतन है तो जब हम ये कहते हैं कि परमात्मा की जैसी चेतनता है वैसी हमारी भी है चैतन्य की दृष्टि से तो परमात्मा अद्वितीय नहीं है हम भी उसी जैसे चेतन है जब हम चेतन का अर्थ ज्ञान के संदर्भ में देख लेते हैं तो अब परमात्मा की चेतनता और आत्मा की चेतनता में हमें बहुत अंतर दिखाई देगा परमात्मा चूंकि सर्वव्यापक है उस रूप में उसकी चेतनता भी सर्वव्यापक है आत्मा एक देशी है इसलिए उसकी चेतनता भी एक देशी है ये भिन्न ढंग से भिन्नता है एक रूप में हम परमात्मा की और आत्मा की चेतनता को हम भिन्न भिन्न देख सकते हैं स्थान की दृष्टि से भी और जिस स्थान पर हम हैं और जान रहे हैं जानने की शक्ति सामर्थ्य जानने की प्रबलता उसको और परमात्मा की जानने की शक्ति सामर्थ्य प्रबलता इसकी तुलना करें तो भी बहुत भिन्नता है इसके जानने के और स्थूल रूप में आए तो हम इंद्रियों से जान पाते हैं हमारी चेतनता है जानने की सामर्थ्य है लेकिन इंद्रियों के माध्यम से स्वतः हम नहीं जान पाते लेकिन परमात्मा की चेतनता ऐसी है कि उसे इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती ये बहुत बड़ा अंतर है हमारी चेतनता हमारा ज्ञान बहुत कम है हमारा बहुत अधिक ज्ञान नैमित्तिक है ज्ञान को दो भागों में बांटेंगे एक हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और एक हमारे को जितना ज्ञान है तो परमात्मा जिस सूक्ष्मता से किसी को जानता है संपूर्णता में जानता है ऐसा ज्ञान हमारा नहीं है हम संपूर्णता में नहीं जान सकते क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से हम जानते हैं उसकी अपनी सीमा है इंद्रियों की शक्ति हम कितनी भी बढ़ा लें यंत्रों के माध्यम से कितने भी दूरबीन बना दें कितने सूक्ष्मदर्शी यंत्र बना लें लेकिन फिर भी सीमा है उससे अधिक दूरी तक उससे अधिक स्पष्टता से हम नहीं देख पाते नहीं जान पाते लेकिन परमात्मा यदि किसी चीज को देख रहा है तो पूरी तरह से देख रहा है संपूर्णता से देख रहा है तो परमात्मा की चेतनता और हमारी चेतनता में भी बहुत बड़ा अंतर है चेतनता में भी परमात्मा अद्वितीय है तो फैलाव की दृष्टि से परमात्मा की चेतनता बिना इंद्रियों के साधनों के माध्यम से जानने की सामर्थ्य ये परमात्मा की चेतनता और किसी वस्तु को जानने की प्रबलता उसका स्वरूप संपूर्णता इसमें भी विशेषता जीवात्मा जो जानता है उसके चैतन्य में अपूर्णता तो रहती ही है लेकिन साथ साथ में विपरीत ज्ञान भी होता है उसका जानना उसकी चेतनता में विपरीत ज्ञान भी हो जाता है इंद्रियों के कारण और उसके अपने पूर्व ज्ञान और संस्कारों के कारण भी विपरीत भी वो जानता है विपरीत अनुमान कर लेता है विपरीत अर्थापत्ति निकाल लेता है लेकिन परमात्मा जहां संपूर्ण जानता है कुछ छूटता नहीं है इसलिए वहां किसी विपरीत ज्ञान के होने की संभावना ही नहीं है इस रूप में परमात्मा की चेतनता और हमारी चेतनता बहुत भिन्न है दूसरा एक गुण समान स्वीकार किया जाता है सत्ता सत्य कि सत इस सत्ता के रूप में तो सब समान है प्रकृति की भी सत्ता है जीव की भी सत्ता है परमात्मा की भी सत्ता है होनापन चाहे लोहे का टुकड़ा हो चाहे पत्थर का टुकड़ा हो चाहे वस्त्र का टुकड़ा हो होने में सत्ता में ये सब समान है तो जो परमात्मा का सत्गुण है होना विद्यमान इसमें परमात्मा अद्वितीय नहीं है सबकी सत्ता है मोटे तौर पे एक जैसा प्रतीत होगा लेकिन जब हम सत्ता का मतलब देखने लगेंगे आखिर सत्ता का अभिप्राय क्या है विद्यमानता किसकी विद्यमानता विद्यमानता के साथ में क्या चीज जुड़ी हुई है होना होना अपने आप में क्या है किसका होना ये प्रश्न साथ में जुड़ा रहेगा होना किसका होना हम किसी भी वस्तु के लिए कह दें है यहां पर ये भी वस्तु यहां पर है लेकिन केवल है या होना कह दें इससे स्वरूप पता नहीं लगेगा उसके साथ ये प्रश्न अपेक्षा आकांक्षा रहेगी है कौन ये वस्तु ये क्रिया ये गुण द्रव्य को गुण को कर्म को छोड़ करके सत्ता का क्या स्वरूप हमारे समझ में आएगा हम इन्हीं की तो सत्ता देखते हैं द्रव्य की सत्ता गुण की सत्ता कर्म की सत्ता तो होनेपन के साथ सत्ता के साथ सत के साथ में उसका सारा स्वरूप जुड़ा हुआ है यद्यपि अन्य स्वरूपों से भिन्न हम एक सत्ता देख रहे हैं लेकिन सत्ता अपने आप में निरपेक्ष कोई शब्द नहीं उसके साथ दूसरी चीज जुड़ी ही रहेगी और जब दूसरी चीजें जुड़ गई हैं तो परमात्मा की सत्ता एक भिन्न रूप में है और हमारी सत्ता एक भिन्न रूप में है उदाहरण के लिए कार्य जगत में जो वस्तुएं हैं कार्य रूप हैं उनकी भी सत्ता है घड़े की सत्ता है शरीर की सत्ता है और नित्य वस्तुओं की भी सत्ता है परमात्मा की भी सत्ता है आत्मा की भी सत्ता है इन दोनों की सत्ता में हम भिन्नता देखते हैं अभी केवल देखेंगे तो वर्तमान में ठीक है ये भी है वो भी है लेकिन हम वहां सत्ता में भेद कर सकते हैं ये अनित्य है और ये नित्य है इसकी विद्यमानता अनित्य है ये उत्पन्न हुई थी वस्तु और अब नष्ट होगी ये सदा से थी और सदा रहेगी आज दोनों हैं ये एक अलग बात है आज दोनों हैं ये इस रूप में दोनों समान हो गए लेकिन होनेपन को उसके आगे पीछे के साथ भी तो देखेंगे काल से जोड़ के भी तो देखेंगे काल अलग गुण है लेकिन काल के साथ में हम सत्ता भी देख रहे हैं ये इसकी नित्य सत्ता है इसकी अनित्य सत्ता है अर्थात सत्ता को भी हम अन्य गुणों के साथ में व्यवहार में देखते हैं तो ये कह देना कि सत्ता इस रूप में सब समान है एक मोटे तौर पे ठीक है लेकिन जैसे नित्यता और अनित्यता की भिन्नता है ऐसे ही अन्य गुण भी साथ में जुड़ जाते काल की एक दृष्टि हम परोक्ष रूप से स्वीकार करते हैं देश की दृष्टि से भी देखिए अन्य गुणों को छोड़ भी दें काल उस वस्तु का गुण नहीं है उस वस्तु को समझने के लिए हम काल को ला रहे हैं देश या स्थान उस वस्तु का गुण नहीं है लेकिन उस वस्तु को समझने के लिए हम देश और स्थान को साथ में ला रहे हैं यदि कोई कहे अन्य गुणों को बिल्कुल अलग रख करके सत्ता को भी देखें तो जैसे काल को जोड़ करके हम सत्ता गुण में नित्यता और अनित्यता देखते हैं ऐसे ही स्थान की दृष्टि से भी हम सत्ता को देखेंगे और वो एकदेशी और सर्वव्यापक ये बहुत बड़ा अंतर है हमारी सत्ता एकदेशी है स्थान की दृष्टि से एक भिन्न संदर्भ में सापेक्षता से देख रहे हैं स्थान आत्मा का अपने आप में कोई गुण नहीं है लेकिन इसका स्थान ये इस स्थान पर है वो उस स्थान पर है ये एक देशी है ये सर्वव्यापक है सत्ता को हम यहां भी भिन्नता से देखते हैं तो वैसे तो परमात्मा के सभी गुणों में वो अद्वितीय है उस जैसा दूसरा कोई नहीं है लेकिन जिन कुछ गुणों में हम सामान्यता समानता देख लेते हैं उसमें भी यदि विचार करें तो परमात्मा अद्वितीय है परमात्मा की सत्ता भी अद्वितीय है तो परमात्मा को उसके अन्य सब गुणों को साथ में लेते हुए हमारे मन में अद्वितीयता का भाव रहे उस जैसा कोई नहीं है प्रत्येक गुण में हम उसको देख पाए कि उस जैसा कोई नहीं है अर्थात उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है यह हमारे दिमाग में खूब अच्छी तरह से भर जाए तो फिर हम परमात्मा की तरफ निर्बाध रूप से निर्द्वंद निसंदेह होते हुए बढ़ेंगे जितनी जितनी अद्वितीयता परमात्मा की हमारे मन में होती है उत्कृष्टता होती है उतना उतना ही हम परमात्मा की तरफ बढ़ पाते हैं तो ये संबोधन हुआ हे अद्वितीय परमात्मा के इस स्वरूप को मन में रखते हुए ओम का उच्चारण ओ